और जिन लोगों ने कुफर किया वो ग्रोह दर ग्रोह जहन्नुम की तरफ हाँके जाएंगे हती कि जब वो उनके पास पहुंचेंगे तो उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उसके निगरान उनसे कहेंगे क्या तुम्हारे पास खुद तुम ही में से कुछ रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें तुम्हारे रब की आयात पढ़कर सुनाते हों और तुम्हें उस दिन की मुलाकात से डराते हों वो कहेंगे क्यों नहीं लेकिन अजाब की बात काफिरों पर साबित हो गई